Oh. तिरसठ नंबर के श्लोक पर कुछ विचार हुआ था जिसमें कहा था इतने ज्ञानमाख्याता गुहरागुह मया विवृषय तदशेषेणा तथा गुरु इस प्रकार मैंने गीता रूपी शास्त्र को बताया कहते हैं ज्ञान माने ज्ञाते अन्य ज्ञान इस श्लोक में आए ज्ञान शुद्ध जिसके द्वारा जाना जाता है किसके द्वारा जाना आत्मा को जाना जिससे गीता से गीता शास्त्र ज्ञान शब्द से कहा मैंने ज्ञान के साधन है इसलिए कहा कि गोपनीय से भी गोपनीय है अति मान एकांत में कहने लायक है समाज के लायक नहीं है अधिकारी विशेष को जो संसार से वैराग्य युक्त तो विरक्त होगा संसार के भोगों से विरक्त हुआ होगा उसके लिए उपयोगी है ये अन्यों के लिए नहीं है जो संसार के विषय को चाहता हो उसके लिए गीता शास्त्र नहीं है याद वह संवर्ण धातु है गोपनीय में से भी गोपनीय है अत्यंत गोपनीय है ऐसे मैंने तुम्हें बताया एतत् अशेषण विमृश्य इस जो गीता रूपी शास्त्र को है एतत् मैंने ज्ञान ये जो ज्ञान ज्ञान शब्द में ज्ञान यदि ज्ञान ऐसा है ये एतत् अशेषण विमृश्य इसको इस गीता शास्त्र को एक विशेष न बचे पूर्व पूर्वा प्रभाव से विचार करके यथेच शशि तथा उसके पास जैसे तुम्हारी इच्छा हो कर्म करो चाहे ज्ञानार्जन करो चाहे कर्मार्जन करो पर यहां उपदेश दो ही है या तो निष्काम कर्म की या ज्ञान की आत्मज्ञान की तो जो चाहते हो वो अपनाओ यथे शशि जो चाहते हो तुम उसको अपनाओ ये कहा हुआ आगे कहते है गीता शास्त्र से पौर्वापर्य पौरवा पौरेण विमर्शन द्वारा तात्पर्याथम प्रतिपत्तुम असमर्थम प्रत्याह जिसको गीता शास्त्र है जिसके बारे में चर्चा हो रही थी द्वितीय अध्याय से एकादश श्लोक से आरंभ हुआ था और सत्यानंद सोच शास्त्र वहां से शुरू हुआ पहले तो भूमिका के रूप में द्वितीय अध्याय के दसम श्लोक तक प्रथम अध्याय से लेकर वहां तक दसम श्लोक तक द्वितीय वो भूमिका के रूप में है किंतु उपदेश शुरू हुआ है एकादश श्लोक से अशोच्या नम सोचस्तम प्रज्ञा बाधार्थ भाष्य से यहां से शुरू हुआ था गीता शास्त्र से जो गीता रूपी शास्त्र है ये शास्त्रित शास्त्र शासन करना करने वाले को शास्त्र बोला जाता है सासु अनुष्ठ धातु है ना उसे सर्वधातु के टन ऐसा सूत्र टन प्रत्यय करता है शास्त्र बनता है शास्त्रित शास्त्रम शासन करता है ये करो ये मत करो दो बातें बोलता है वही शासन होता है इसलिए इसको शास्त्र कहा जाता है गीता शास्त्र से गीता रूपी शास्त्र इसका पौर्वापरिण विमर्शन द्वारा पूर्वापर भाव से जो विचार कर सकता हो उसके लिए तो उपदेश पूरा हो गया पूर्वापर भाव से विचार के द्वारा अर्थ निकाल सकता हो पौर्वापरिण विमर्शन द्वारा तात्पर्य अर्थ इसका तात्पर्य क्या है सारांश क्या निकलता है इसका प्रतिपत्तुम असमर्थन तात्पर्य जानने के लिए जो समर्थ नहीं है पूर्वापर भाव विचार करके तात्पर्य को समझना जिसमें सामर्थ्य नहीं है ऐसे मंद अधिकारी हैं मंद बुद्धि वाले हैं उनको लेकर के कहते हैं आगे फिर और भी बोलते हैं भूयोपी कहा फिर भी भूयोपी मया उच्च मानव सुनू ये कहा मंद अधिकारी को देखते हुए कहते हैं उत्तम अधिकारी तो इतना सुनने के बाद भी पूर्वा प्रभाव से विचार करके तात्पर्य से निकाल लेगा तो जो तो तो मंद अधिकारी होगा अधिकारी तीन प्रकार के उत्तम है मध्यम है मंद है तो मंद अधिकारी को लेकर के फिर कहते हैं कहा भूयो की फिर भी मया उच्च मानो सुनो मेरे द्वारा कहे जाने वाली शब्दावली को सुनो भगवान बोल रहे हैं मेरे द्वारा कहे जाने वाले शब्दावली अगले श्लोक है आगे के सब श्लोक है इसको सुनो कहा सुनो सुनो

इष्टोषि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि हिते हितम् सर्वेशा गुह्यानाम तमम गुह्यतमम अतिशय जितने भी गोपनीय वस्तु होंगे सबसे ज्यादा गुह्यतम पदार्थ है गोपनीय अतिशय गोपनीय गुह्य नहीं गुह्यतर नहीं गुह्यतम कहा अतिशाय तम विष्ठन अति अनेकों में से अनेक एक अतिशय दिखाना हो जिसमें शुभ कहा जाता है तमप प्रत्यय लगा के बोला जाता है तो तमप लगा दिया सर्वगुह सर्वेशा गुहिया नाम तमाम सभी गोपनीय जितने भी विषय होंगे उनसे अत्यंत गोपनीय विषय बताता हूं क्या है गोपनीय शुरू में परम बचा मेरे परम वाणी को सुनो परम भूतम बचा है परम उत्कृष्ट वाणी बचा मैंने वाणी उसको सुनो द्वितीयांत है बच्चा शब्द नपुंसक है द्वितीय वचन है परमम वचह वे सुनो मेरे जो परम वचन है हितकर वचन है उत्कृष्ट वचन है उसको सुनो सभी गोपनीय में गोपनीय है जो वचन उसको मैं कहता हूं क्यों कहना अर्जुन को तो कहते हैं इष्टो में इष्टो असी में मेरा तुम इष्ट हो प्रिय हो इष्ट माने प्रिय अति प्रिय हो मेरा मेरे लिए प्रिय हो तुम दृढ़ माने सामान्य प्रिय ने अति प्रिय हो मजबूत प्रिय हो दृढ़ प्रिय हो इस इसलिए तथो इसी कारण से अतिशय प्रिय होने के कारण ते हितम में तुम्हारे लिए हित मैं कहूं हित को कहूंगा परमम बचा सुनो हित करने वाली जो वाणी है जिसे औषध होगा तुम्हारे लिए जिस वाणी से औषध के काम करेगा उस वाणी को सुनो ये कहना है भाष्य का सर्व गुहतम है सर्वेभ्यो गुहेभ्यो अत्यंत रहस्यम कर रहस्य माने एकांत में कर लाए गए गोपनीय है संपूर्ण गोपनीय पदार्थ जितने होते विषय जितने होते हैं छिपाने योग्य समाज में देने योग्य नहीं है अधिकारी विशेष को ही देने योग्य होता है जो सर्वेभ्य सर्वगुहेभ्यो अत्यंत रहस्यम अतिशय मैंने रहस्य मैंने होता है वह गोपनीय होता है रहस्यम उक्तम अभी पहले कहा है बहुत सारे बातें मैंने बताया तुम्हें गोपनीय तत्व तो बताया वो असकत बार बार कहा हुआ है पहले भी कहा यह गोपनीय विषय मैंने छिपाया नहीं असकृत उत्तम अभी बार बार कहने पर भी भूय हमारे पुनः श्रेणो फिर भी मेरे वचनों को सुनो मम परम प्रकृष्टम बचा कहा परम का था प्रकृष्ट उत्कृष्ट वचन को मेरे वाणी को सुनो ये कह रहे तो भी पहले भी बार बार कहा मैंने गोपनीय बातें बताई है किंतु अब फिर भी एक बार सुनो प्रकृत वचन सुनो बचा मैंने वाक्य मेरे वाक्य को सुनो ये कहना है किंतु क्या भय के मारे बार बार कह दिया तो फिर फिर उसी को क्यों कहना उसी बातों में डर के मारे बार बार बोल रहे आप अथवा किसी विषय को चाहते हैं आप द्रव्यादि चाहते हैं मेरे से इसलिए कहते हो आप बार बार पहले कहा हुआ है फिर उसी उसी वचन को एक बार फिर सुनो कह रहे आप फिर भी सुनो कह रहे हैं भय के बारे मेरे से डर है आपको इसलिए कह रहे हो अथवा द्रव्य का लालच है आपको जिससे कहते हैं प्रश्न उठ सकता है कहते न भयात मैं किसी भय के कारण नहीं बोल रहा हूं जो वचन कहने वाला हूं भय के बारे नहीं ना भी अर्थ कारणाद अथवा मैं कोई विशेष विषय चाहता हो चाहते हो चाहता हो तुम्हें ऐसा भी नहीं है विशेष विषय चाहने के माध्यम से भी नहीं है भय के माध्यम से भी नहीं है क्यों मेरे प्रिय हो इसलिए और बोलता हूं न भयात ना भी अर्थ कारणाद्वा कहा हुआ है कक्षा में मैं भय से भी नहीं कहूंगा इस बात को हम्म, कृष्ण वचन जो होगा नहीं कहूंगा भय के कारण तुम्हारा भय नहीं मुझे अथवा अर्थ कारणवाद अथवा विषय जाने के कारण तुम्हारे से कोई धन द्रव्य आदि चाहता हूं इसलिए कहता हूं ऐसा भी नहीं है न बक्षामी प्रश्न उठता है क्यों करी फिर पहले पहले बोला है सर्वभूतम भूय भूय मान फिर सुनो कह रहे तो पहले भी कहा हुआ है तो किस भय के कारण नहीं अथवा अर्थ चाहते हैं विषय चाहते हैं कोई धन द्रव्य आदि चाहते हैं नहीं किम तरी फिर किसके लिए कहते हो पहले कहा हुआ विषय को फिर दोबारा क्यों कहना है बार बार पहले कहा हुआ है फिर यहां क्यों कहा क्यों ही इष्ट इष्ट उसी कहा हुआ इष्ट मैंने प्रियो असी तुम तो मेरे अति प्रिय हो इसी कारण से बोलता हूं प्रियोसी कहा इष्ट असी माने प्रियोसी प्रिय हो मे मामा मेरा प्रिय हो तुम तुम्हारे से बढ़कर कोई मेरा प्रिय पदार्थ नहीं प्रिय वस्तु नहीं है इसलिए दृढ़म अव्यभिचारण प्रिय सामान्य प्रिय नहीं कभी कभी प्रिय हो कभी ना हो ऐसा नहीं अव्यभिचारी प्रिय प्रियता है तुम्हारे पास मेरी दृढ़म का अर्थ लगा दे अव्यभिचारण व्यभिचार रहित कभी हो कभी ना हो प्रिय ऐसा नहीं है वो स्वार्थपरक होता है कभी होना कभी नहीं होना किंतु दृढ़म का अर्थ लगाते अभिचार व्यभिचार व्यविचार रहित निरंतर प्रिय हो हमेशा प्रिय हो मेरे तो इसलिए भाई श्रेष्ठ वचन बताता हूं सुनो कहा वाक्य को सुनो कहना चाहते हैं इति कृत्वा ऐसा मान करके अति प्रिय हो इसको मानकर तथा यही प्रियता के कारण मेरे तुम अतिशय प्रिय हो इसी कारण से तेरा प्रियता के कारण से ही तेन कारण प्रिय के कारण ही बक्ष्यामी कथयश्यामी मैं परम वचन को कहूंगा विशेष वचन कहूंगा फिर सुनो कहा ते हितम तुम्हारे लिए हितकर होगा क्या होगा हम्म, पथ्य होगा हम्म, दवाई का काम करेगा संसार सागर से मुक्त होने का काम करेगा परम ज्ञान प्राप्ति साधन यही वचन होगा क्या परम जो ज्ञान है परमात्मा प्राप्ति रूप जो ज्ञान है प्राप्ति स्वरूप ज्ञान उसको उसका साधन है उसको बताऊंगा मैं परम प्राप्त साधन परमात्मा का जो ज्ञान है ना उसको प्राप्ति का साधन बताऊंगा ठीक है तद्धि सर्वहितानाम हितम हिततम वो जो परमात्मा प्राप्ति का जो ज्ञान होता है संपूर्ण हितों में से वही हित है जितने भी हित हैं संसार के सबसे बड़ा हित वही है परमात्मा प्राप्ति साधन जी के जन्म मरण के चक्कर चक्कर छूट जाए परम हित वही है हिततम साधन वही है अतिशय हित करने वाला साधन वही है जो मोक्ष हो जाए परमात्मा की ज्ञान प्राप्त हो जाए उसको मैं बताऊंगा ये कहना है ठीक है मैं कहते हैं थोड़ी है किमर्थम किम अर्थम इच्छम पुनः पुनः अभिदासी क्या आपको कोई लालच है विशेष चाहते हो आप धन चाहते हो मेरे से ये बार बार वही बातें बोलते रहे हो द्वितीय अध्याय से लेकर अब तक क्या कुछ चाहते हो ये प्रश्न कर सकता है अर्जुन तब होते हैं ना न भयात तुम्हारे भय भी नहीं मुझे ये परम हित वाणी को बोलने के लिए अथवा धन प्राप्ति की इच्छा भी नहीं न भयात न अर्थ कह रहे हैं भाष्य में कहा था भय से भी नहीं ये वाणी बोलूंगा अथवा अर्थ कारण से विषय चाहता हूं धन आदि चाहता हूं इसलिए कहूं ऐसा भी नहीं हितम यदि साधारण विरुद्ध से कथम परमम इत्यादि विशेषण यदि आशंका परम नहीं परमम परमम बचा है ठीक है हमें परमम से एक मकार और चाहिए परमम हितम यदि साधारण हित शब्द साधारण रूप से बोलते हित मानी हित तो सभी जानते हैं परम विशेषण क्यों दिया परमम विशेषण क्यों उसके लिए हित के लिए परमम हितम ऐसा हितम ये साधारण विशेषण क्यों लगाना जो तो साधारण हित शब्द से अर्थ आ रहा है तो परमम जो विशेषण दिया है परमम हितम श्लोक में परमम बच हितम बचा कहा हुआ है परमम हितम बचा तो परमम क्यों विशेषण क्यों परमम इत्यादि विशेषण किम परमम आदि विशेषण क्यों दिया गया यह श्लोक में संज्ञा करके तद्धि कहा अरे बाबा हित तो वही होता है कौन तद्धि वही हित होता है तद्धि सर्वहिताराम हिततम वही जो परमात्मा प्राप्ति के साधन ज्ञान है संपूर्ण हितों में हितकर साधन वही है अन्य भी हित होते हैं किंतु तो सबसे बड़ा हित हित के साधन यही है मोक्ष प्राप्ति सबसे बड़ा हित है अपने जीवों के लिए उसके साधन है मैं उसी को बताऊ तो क्या है वो हित करने वाला साधन क्या है कहते हैं भगवान के माने मन भगवान में अर्पित करना और भगवान के भक्त बनना संसार संसारियों का भक्त नहीं बनना और भगवान के यजन करने वाला हो पूजन करने वाला अन्य की पूजन न करने करने वाला न हो अन्य निष्काम भाव से कर्म करने वाला हो भगवान को नमस्कार करने वाले हो जहां जहां नमस्कार करता हो भगवत दृष्टि से करे ये सब हिततम साधन है ज्ञान प्राप्ति के साधन है ये कहना चाहते हैं ये कहना है यहां जो पूर्व स्वरूप में कहा था सर्वगुहतम गुह स्वरूप में परम बचा इष्टोष में दृढ़ जीत तत्व कक्षा में दे तो कहा वो क्या है हित करने वाला साधन प्रश्न उठता है तो आप उत्तर लेते हैं ये कहना है सदैव प्रश्न द्वारा विरुद्ध हिततम कहा हुआ है जो साधन है अत्यंत हित करने वाला साधन उसी को ही प्रश्न के द्वारा व्याख्या करते हो साधन क्या साधन है उसके अगले श्लोक में कहते हैं किम तद वो हिततम परम हिततम करके कहा था वो क्या है वो ये प्रश्न उठा किम तत् क्या है इसको इसके उत्तर में कहते हैं मनमना भव मद्भक्तो जीवाम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में हनुमना भव पद भक्त पद्या जीवाम नमस्कुर मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि मन मना भव मई मनो यश्य तब मेरे में ही मन हो जिसका मनोवृत्ति निरंतर मेरे में हो उसी परमात्मा में हो आत्मचिंतन में ही मन हो चिंता मई मरो यश तब जिस तुम्हारा मन कहा हो मेरे में हो सत्वम वो जो तुम कौन होगा मन मना हो जाएगा मन मना भव एक क्रिया भव मेरे ही मन मेरे में ही मन लगाने वाले हो जाओ विषयों में मन लगाने वाले नहीं होना वो घातक है और मद भक्तो भव ममा भक्तो भव मद भक्तो भव मेरा भक्त बनो अन्यों का नहीं संसार के भक्त मत बनना संसारियों का भक्त मत बनना मम भक्त मदभक्त ष्ठी समाज है मदभक्त है भव मध्याजी माम यष्टुम शीलम यश्य तत् मध्याजी मेरे ही यजन करने का स्वभाव बन गया जिसका आजाद और ताचिल्य सूत्र ताचिल्य प्रत्यय लगा है ऋण प्रत्यय लगा हुआ है मेरा ही यजन करने का जिसका स्वभाव हो गया जिसका स्वभाव ऐसा हुआ हो तुम्हारा स्वभाव कैसा हो मेरे ही विषय में एक एक करने वाले हो हो जाओ ऐसा स्वभाव वाले हो जाओ कहा भव पदयाजी भव भव क्रिया सबके साथ है मनमना भव भक्त भव पदयाजी भव और माम नमस्कुरु मेरे ही नमस्कार करने वाले हो जाओ मेरे को ही नमस्कार करना जहां जहां भी नमस्कार तो भगवत दृष्टि से नमस्कार करो शरीर मनुष्य दृष्टि से मत करना भगवत दृष्टि से करो ये महात्मा लोग ओम नमो नारायण बोलते हैं शरीर के लिए न बोल रहे हैं उस शरीर के भीतर जो बैठा हुआ नारायण है उसको नमस्कार करना नारायण आय नम यही होता है नारायण के तो नमस्कार ऐसा बोलते हैं ऐसा करोगे मेरे में मन लगाने वाले हो जाओ मेरा ही भक्त हो मेरे ही यजन करने वाले स्वभाव बना हो तुम्हारा और मेरे को नमस्कार करते हो तो क्या होगा चारों का फल क्या होगा मामेव यशसी मेरे को ही प्राप्त करोगे यशसी आगछसी आग, आगविष्यसी मेरे में आ जाओगे मेरे तद्रूप हो जाओगे मेरे रूपी हो जाओगे ये कहना है माम एव मेरे को ही अन्य को नहीं प्राप्त करोगे यश्यसी सी आओगे मेरे पास ही आओगे ये अर्थ होता है सत्यम ते प्रति नहीं करें मैं सत्य प्रतिज्ञा करती तुम्हारे सामने झूठी प्रतिज्ञा नहीं करता हूं ये चार बातें करोगे तो मेरे में आओगे ये प्रतिज्ञा मेरी है सत्य प्रतिज्ञा है ते मन तुभ्यम सत्यम प्रज्ञान तुम्हारे पास मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं प्रतिपूर्वक ज्ञान धातु है केलादि का धातु है ज्ञान जरूर जा सूत्र है सुना प्रत्यय आगे तो ज्ञान को जा आदेश हो जाएगा प्रति जा आगे स्ना विकरण है ईट प्रत्यय है उत्तम पुरुष एक लट लगा ईट को किताब लटेरे लग गया ये बन गया स्ना के आकार का स्नाप्य स्तर से लोप हो गया जाने बन जाएगा नाम सत्यम ते तो प्रतिज्ञान में प्रतिज्ञा करता हूं भगवान कह रहे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं मेरे में ही तुम आओगे से मैं क्यों मेरे प्रिय हो तुम इसलिए मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं तुम्हारे साथ ये चार काम करो तो मेरे को ही प्राप्त करोगे ऐसा है मन मना भव मद भक्त भव जी भव नाम नमस्कुरु ये चार बातें हैं ये पुरुषों ने कहा था तथो बक्ष्यामी तब ये हित करने वाला यही है जो कुछ भी करो भगवान के लिए करो अपने लिए मत करो शरीर के लिए मत करो भगवत दृष्टि से करो ये काम है भाष्य में कहते हैं मन मना भव माने मत चित्तो भव उसका अर्थ है मन माने चित्त मन मना भव माने मई मनोयश्य ऐसा विग्रह करना बहुगुरी समाज करना सप्तमी घटित बहुगुरी करना है मन मई मान वेदिका सप्तम बहुरी है वेदिकर्ण है मई मनो यश्य मेरे में मन हो जिस तुम्हारा ऐसा हो जाओ यह अर्थ है मत चित्तो भव बोलते उसी का अर्थ है मन मना भव का अर्थ और मद भक्तो भव मेरा ही भक्त बनो जो भजन करने भजन करने वाले को भक्त कहा जाता है भक्ति शब्द से अस आदि अच लगाएगा तो भक्त बन जाता है भक्ति माने भजन वो भक्ति जिसमें हो उसको भक्त कहा जाता है मतुपर्थ में एक सूत्र आता है तद्धित में अर्थ आदि भी अच्छ अर्थ आदि सब उसका अच्छ प्रत्यय लगता है मतुपर्थ मद भक्तो भव मेरा भक्त हो जाओ कहा हुआ है माने मद भजन से तो बोलते हैं मद भक्त माने मद भजन हो भव मेरा ही भजन वाला हो जाओ तुम सेवन भज सेवा धातु है भजन करते सेवन मेरे ही सेवा करने वाले हो जाओ मध्याजी भव कहा मद यजनशीलो भव इसका अर्थ है यदि प्रत्यय लगा है मध्याजी में माम यस्तुम शीलम यश्य मेरे ही पूजा करना जिसका स्वभाव बना हुआ हो उसको मध्या जैसे उसका भोजी बोलते हैं उसी प्रकार है माम नमस्कुरु कहा मेरा ही नमस्कार करो मुझको ही नमस्कार करो जहां भी नमस्कार करो तो मान भगवत दृष्टि से करो ये अर्थ है नमस्कार अभी ममई करू ये नमस्कार भी मेरे मेरे को ही करना अन्य को नहीं तत्र एवं इस प्रकार से वर्तमान इस प्रकार से तुम रहोगे तत्र मान ये चारों काम करके मन भव मदभक्त भव मध्याजी इत्यादि चार लगाया हुआ है तत्र एवं वर्तमान इस प्रकार से रहते हुए तुम वासुदेव एवं सर्वम समर्पितम वासुदेव एवं सर्वम समर्पित वसुदेव में वासुदेव मानी वसुदेव के संतान को वासुदेव कहते हैं तो उसी में सर्व समर्पित किया है जिसने सारे के सारे क्रिया उसी में समर्पित किया है वासुदेव का मैंने वास भी सर्वाणी भूतानी वासुदेव ये होता है सभी प्राणियों को आश्रय देता है इसलिए वासुदेव कहते हैं सर्वसमर्पित साध्य साधन प्रयोजन साध्य और साधन दो प्रकार के जो प्रयोजन है सब भगवान में अर्पित कर दिया दो ही काम करेगा साधन करता है कृष्ण की साध्य के लिए साध्य साध दो प्रकार होता है सब के सब भगवान में अर्पित करते हैं साधन में भी भगवत दृष्टि है साध्य में भी भगवत दृष्टि है मामे मामेव आगम यश्यसी का मेरे को ही प्राप्त करोगे हम्म। इनका तो धातु है ना लिट लगा रहा है यश्यसी आंग पूर्वक आंग लगा दिया आगमिष्यसी हो जाता है महावेश्यसी मैंने आगमिष्यसी मेरे को ही प्राप्त करोगे आओगे मेरे पास ही पहुंचोगे चार काम कर पाओगे तो किंतु तो सर्वात्मना होना चाहिए बाहर कुछ भीतर कुछ न हो एक हो साध्य साधन सबके सब मेरे भाई मेरी दृष्टि से ही हो ठीक है माँ में सत्यम ते प्रतियाने प्रवेश में है उत्तरार्ध यही है सत्यम ते तब आने हम्म। तुम्हारे लिए मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं सत्य प्रतिज्ञा झूठी बात नहीं बोलता हम्म। प्रतिज्ञा करो मैं कहा प्रतिज्ञान है तो प्रतिगम करोगे यही होता है तस्मिन वस्तु ने उस वस्तु में परमात्मा रूप वस्तु में सत्य प्रतिज्ञा करता हूं यथा प्रियोशी मैं कहा जिससे कि मैं बता रहा हूं उपनीय बात बता रहा हूं सर्व परम हित हिततम साधन बता रहा हूं क्यों अतिशय प्रिय हो गए तुम इसी कारण से बताता हूं कहा एवं भगवत सत्य तुम बुद्धवा इस पर भगवान को सत्य प्रतिज्ञा है भगवान सत्य प्रतिज्ञा यह सत्यम प्रतिज्ञम ऐसी प्रतिज्ञा जिसकी सत्य है ऐसा मान करके भगवान की बात वाणी बिल्कुल सत्य है जो प्रतिज्ञा करते हैं वो सत्य है ऐसा मानकर भगवत भक्तिर अवश्यम भावी भावी मोक्ष फलम अवधार्य भगवान के जो भजन होगा अवश्यम भावी मोक्ष फल है ऐसा निश्चय करके भगवान के भजन करने पर मोक्ष अवश्यम भावी है कोई प्रतिबंधक नहीं हो सकता ऐसा अवधार्य निश्चय करके भगवत शरण का परायण भवे इस वाक्यार्थ वाक्य का संपूर्ण वाक्य का अर्थ होता है भगवत शरण का ही एक परायण हो रहे मेरे परम गति परमात्मा ही है ऐसा मान करके साहु रहे ये अर्थ होता है कहा ठीक है हमें कहा उत्तरार्ध में अचष्ट कहते हैं उत्तरार्ध के श्लोक में मामे पर शिष्य सत्यम थे प्रतिदानी प्रवेश में उसकी व्याख्या करते कहा तत्र इत्यादि शब्द का तत्र एवं वर्तमान हो ये चार बातों को लेकर चल रहा जो व्यक्ति भगवान के मन में धारण किया हुआ है भगवान के वक्त है वो भगवान के ही अदर करने का स्वभाव बना हुआ है और भगवान को जो नमस्कार करता है ऐसा एवं सती ऐसा मान्य पर एवं उक्तया रित इस प्रकार से जो बताए गए जो तरीका है वर्तमान वर्तमान रहता हुआ एवं उक्तया रीत्या वर्तमान इस तरह से रहता हुआ जो व्यक्ति तुम ऐसा रहने वाले तुम जो हो तस्मिन वासुदेव भगवत भगवती अर्पित सपर सर्वभाव कहा उसी वासुदेव में ही भगवान में अर्पित है सर्वभाव संपूर्ण क्रिया शरीर बातचीत कायिक मानस क्रिया सबके सब भगवान में अर्पित है जिसकी जो भी करता है भगवत दृष्टि से करता है ऐसा हुआ वो में आगम शशि का वो ऐसा करना मेरे को ही प्राप्त हो क्योंकि कोई स्वर्ग आदि को प्राप्त नहीं होगा उस काल में तो संबंध ऐसे कहा सत्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं तो वहां सत्यम ते प्रतिज्ञा ने कहा हुआ है सत्य प्रतिज्ञा करने में क्या कारण बना भगवान मैं सत्य कहता हूं करके प्रतिज्ञा कर रहे हैं तो इसके कारण क्या है प्रियोशी का मेरे तो अतिशय प्रिय हो इसलिए सत्य बोलता हूं तुम्हारे यतः ये शब्द से कहा यतः प्रियोशी में सत्य प्रतिज्ञा क्यों करता हूं तुम्हारे मेरे प्रिय हो तुम अतिशय प्रिय हो यही है इधानी वाक्यार्थम श्रेयोर्थी नाम प्रवृत्ति हुई ना संग्रहादि इस समय जो वाक्य का विषय है हम्म, उसका श्रेय श्रेयोर्थी नाम जो मोक्ष चाहने वाले हैं श्रेय हमारे कल्याण चाहने वाले मोक्ष चाहने वालों के लिए प्रवृत्ति उसके प्रवृत्ति के उपयोगी है वाक्य ये दिखाते हैं संग्रह करते एवं इत्यादि कहा एवं भगवत सत्य प्रतिगत्व मुद्दा ये करना चाहिए जो अपना कल्याण चाहता हो भगवान के ऊपर विश्वास करे भगवान के बाणी में विश्वास करे एवं भगवत सत्य प्रतिगत्व बुद्धा इस प्रकार भगवान को सत्य प्रतिज्ञा समझ करके सत्य बोलते हैं भगवान झूठ नहीं बोलते भगवान के वचन शास्त्र रूप में किस रूप में शास्त्र के रूप में है तो सत्य तुम बुद्ध भगवत भक्त अवश्यम भावी मोक्ष फला अवधारिया भगवान के भक्ति से क्या होता है अवश्यम भावी मोक्ष कुछ इधर उधर हो नहीं सकता मोक्ष मिलेगा ही भगवान की भक्ति करने से सेवन करने से है भगवत शरण का पराय भगवत शरण का पराय भवे भगवान के यह एकमात्र होकर के रहे इसमें परम गति मान करके रहने वाला हो यह अर्थ आया वृत्तम अनुद्य श्लोकांतरम श्लोक तात्पर्य हाँ, पूर्व की बातों को कुछ अनुवाद करके आगे श्लोक का जो तात्पर्य बताते हैं आगे आगे आने वाला जो श्लोक है उसका तात्पर्य बताएंगे पहले वृत्तम अनुद्य पूर्व की बातों का अनुवाद कर श्लोक तात्पर्य श्लोक का जो तात्पर्य है आगे का श्लोक आगामी श्लोक का जो तात्पर्य है उसको कहते हैं कर्मयोग इत्यादि कहा कर्मयोग निष्ठा या जो कर्मयोग निष्ठा कहा था तृतीय अध्याय में कहा था लोकेश मधुता निष्ठा पुरा पुरुषता मया नघ ज्ञान योग हम कर्मयोग योगी नाम कहा हुआ है दो ही धारा है एक कर्मयोगी कर्म की धारा और ज्ञान की धारा जब तक आत्मज्ञान की योग्यता नहीं आती हो अंतकर्म में ज्ञान निष्ठा की योग्यता नहीं तब तक कर्म करना है शास्त्रीय कर्म करना भगवान को अर्पित करके करना जब ज्ञान निष्ठा की योग्यता आने पर वेदांत सरोवर आदि करके उसके बाद ज्ञान प्राप्त करना मोक्ष का साधन यही है ये दो बातें कही थी तो क्या कर्मयोग निष्ठा या जो कर्मयोग निष्ठा है उस स्थिति थी वह परम परम रहस्यम ईश्वर सर्वदाम उपसमृत्य परम गोपनीय क्या ईश्वर की शरणागति होनी चाहिए कर्मयोग के समय कर्म करते समय कैसा होना चाहिए परमात्मा की शरणागति में होना चाहिए व्यक्ति को ये कर्म की निष्ठा तो भी मानी जाती है तो परमात्मा भाव में समर्पित हो रहा सारे कर्मों में अर्पित करता हो तो समझना चाहिए कर्म में निष्ठा हो गई उसकी स्थिति हो गई कहना है उसको उपसंहार करके अब तक कर्म निष्ठा को उपसंहार कर अथ इधान कर्मयोग निष्ठा फलम कर्मयोग पे निष्ठा जो बन गई उसका फल क्या होगा सम्य ज्ञान होगा आगे यदि निष्काम भाव से कर्म किया हो तो आगे चलकर ज्ञान होगा आत्मज्ञान होगा शुरुआती साधन कर्मनिष्ठा है सम्यक दर्शन सर्व वेदांत विहितम सारे उपनिषद में विधान है वाक्य क्या है कर्म के निष्ठा समाप्ति होने पर पूरी हो तो ज्ञान निष्ठा हो जाती है सारे वेदांत उपनिषदों में विहित वक्तव्य भाव सारे उपनिषद में जो विधान विहित हुआ है उसका वक्तव्य जो होगा वो यहां कहना चाहते हैं कहा हुआ है यही गीता के अंतिम उपदेश श्लोक आ रहा है आगे तो फलस्वरूप आएगा आगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण व्रज हम ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण व्रज त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान परित्यज्य सारे धर्म को परित्याग करके धर्म धर्म से धर्म भी कहा जाता है जो धर्म कहते हैं स्वर्ग प्राप्ति का धर्म है अमुक धर्म है ये धर्म वो धर्म मानव धर्म न जाने कितने धर्म हैं वो भी धर्म धर्म शब्द से उपलक्षण करके अधर्म को मिला केवल धर्म मात्र को परित्याग नहीं अधर्म को भी परित्याग करना अधर्म धर्म दोनों त्यागना अथवा दूसरा है जितने आरोप किया है तुमने तो अपने में मैंने आत्मा में आरोप किया है मैं मनुष्य हूं स्त्री हूं पुरुष हूं वास्तव में आत्मा न मनुष्य है न स्त्री है न पुरुष है न बाल है न वृद्ध है सारे आरोप किया है ऊपर से मरा हुआ है इसको इन धर्मों को त्याग करके ना हम मनुष्य इत्यादि में पहुंचकर ना हम देह न मे देह यहां पहुंचना इस भाव में पहुंचना यह सर्वधर्म होता है परित्याग अपने अकेला बनाना यही है सर्वधर्म परित्याग सर्वधर्मान परित्यज सारे धर्म को परित्याग करके परितः त्यज्य परित्यज्य एक भी धर्म न बचे अपने आप में कोई धर्म धर्म रहित बना दे अपने को को आत्मा को यही है ज्ञान निष्ठा का स्वरूप यही होता है कर्म निष्ठा से शुद्ध हुआ होगा अंतकर्म जिसका उसकी ऐसी निष्ठा होती है हम्म। शरीर आदि में आत्मबुद्धि समाप्त हो जाती है स्थिति है सर्वथवान प्रत्यक्ष माम ये जो माम पद से क्या लेना है अस्मत शब्द का प्रयोग है माम एकम माम मुझको ही मेरे ही शरण आओ कहते हैं प्रजा मेरे आश्रय लोग तो यहाँ अस्मत शब्द से किसको बोल रहे हैं यदि कृष्ण बोलते हो यहाँ भगवत गीता कृष्ण का है बोल रहे हैं यहाँ माम शब्द जो अस्मत शब्द का द्वितीयांत एक वचन है तो मुझके सब मेरे शरण आओ कहना हो कृष्ण बोलते हो एक राम भक्त भी बैठा होगा गीता पढ़ता है वो शिव भक्त भी बैठा होगा गीता पढ़ते कि नहीं पढ़ते ये श्लोक सभी पढ़ेंगे कृष्ण भक्त भी पढ़ेंगे विष्णु भक्त भी कहेंगे सभी बोलेंगे तो इसका अर्थ क्या किया जाए कृष्ण भक्त मानने पर दूसरे मानेंगे कि नहीं इस माम पद को नहीं नहीं राम ने कहा राम भक्त क्या बोलेगा और विष्णु भक्त बोलेगा यही बोलेगा शिव भक्त बोलेगा शिव ने कहा तो झगड़ा शुरू हो जाएगा स्थिति ऐसी है यह माम शब्द जो है सविशेष को लेकर के अर्थ निकालना मुश्किल है माम निर्विशेषम आत्मान सरलम प्रजा ऐसा अर्थ करना है तो सबके लिए घट जाएगा वो यदि सविशेष करेंगे कृष्ण आदि रूप आकार लेके चलेंगे झगड़ा शुरू हो जाएगा क्योंकि गीता तो सभी पढ़ते हैं ये सभी के लिए निर्विरोध ग्रंथ है ये सभी पढ़ते हैं गीता सभी धर्मावलंबी पढ़ते हैं चाहे द्वैतवादी हो चाहे अद्वैतवादी हो सब के सब गीता पढ़ते हैं या माम शब्द आया हुआ है अस्मत शब्द का द्वितीय का एक वचन है सभी धर्मों को त्याग करके मेरे शब्द में आओ करें तो अस्मत शब्द से किसको लेना है यहां तो यदि सविशेष लेंगे तो एक सविशेष दूसरा सविशेष वाला रहा जो गीता तो वो भी पढ़ता है राम भक्त भी गीता पढ़ते हैं कृष्ण भक्त भी पढ़ते हैं शिव भक्त भी पढ़ते सब पढ़ते हैं द्वैत अद्वैत सारे वादी गीता को पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ मानते हैं सभी पढ़ते हैं तो एक अपने अपने तरफ से मान भगवान आकार वाले भगवान पकड़ेंगे सब तब तक भगवान पकड़े झगड़ा हो जाएगा इसलिए अस्पत समग्रता निर्विशेषम आत्मान ये ऐसा करने पर कोई विरोध नहीं होगा ठीक है सर्वधर्मान जो सारे धर्म जितने में तुमने आरोप किया है अपने आत्मा के ऊपर जो धर्म आरोप किया है धर्माधर्म जितने में धर्मात्मा हूं पापात्मा हूं जो जो तुम्हारे बोलते हैं पापो हम पाप कर्माणम पापात्मा पाप संभव त्राईवाम पुंडरी काक्ष सर्व पाप हरो भव इत्यादि गिड़गिड़ाते हैं लोग कर्मकांडी लोग मैं पाप रूप हूं पाप कर्म वाला हूं इत्यादि ये सब आरोप है आत्मा में कोई पाप पुण्य नहीं तो सर्वधर्मान प्रत्ये सारे धर्म को परित्याग कर माम एकम सर्व एकम मान निर्विशेषम आत्मान एकम सर्वम प्रजा सर्व में हो आश्रित हो जाओ तो ऐसा जब निर्विशेष आत्मा में आश्रित हो जाओगे तो क्या होगा अहम मैं जो निर्विशेष आत्मा हूं वह त्वा मान त्वाम त्वा कर त्वाम युष्मत और अस्मत शब्द के स्थान में चतुर्थी षष्ठी द्वितीय विशिष्ट होने पर त्वामा आदि आदेश होता है बस नष्ट युवाव और त्वा मा ते मे ये सब आदेश होते हैं तो त्वा आदेश हुआ है माने पद से परे हो पाद के आदि में न हो ऐसा ऐसा होना चाहिए पद से परे हो पाद के आदि में न हो ष्टंत हो तृतीया चतुर्थंत हो द्वितीयांत हो युष्मत शब्द उनके स्थान में द्वितीय एक वचन में त्वामा आदेश होता है चतुर्थी ष्ठी एक वचन में ते में आदेश हो जाता है हाँ। द्विवचन में युवा आवा आदेश हो जाता है युवाभ्याम आवाभ्याम आदि बनते हैं और बहुवचन में बस का आदेश हो जाता है इत्यादि तो यहां पर त्वा आदेश लेगा उसका त्वा तुमको ये बोलना चाहते हैं तुम्हें हम तो सर्व पापी सारे पापों से देखो अध्यात्म में धर्म भी पाप है क्यों बंधन के कारण धर्म भी है जीवा जीव को बंधन में डालने वाला धर्म भी है स्वर्ग आदि शरीर देगा और पाप नार, नारकीय शरीर देगा किंतु शरीर तो देगा शरीर देने बंधन है सुवर्ण और लोहे भेदे भी श्रृंखलात्व विद्यते ऐसा आया है सोने का लोहे की कीमत में भेद है कहाँ सोना कहाँ लोहा किंतु जंजीर बनाएंगे बांधने के लिए तो दोनों समान है चाहे सोने का जंजीर हो चाहे लोहे का जंजीर हो बंधन में तो समान है चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो बंधन तो देने वाले हैं दोनों शरीर देने वाले हैं धर्म से ही शरीर मिल रहा है अधर्म से भी शरीर मिल रहा है भविष्य में बंधन के कारण है इसलिए जहां पर <clears throat> पाप शब्द आएगा अध्यात्म शास्त्र में पाप शास्त्र है धर्म को पाप में लिया जाता है धर्माधर्म तो पाप है क्यों जीवात्मा के बंधन के कारण दोनों अहम तो को पाप विद्यो मोक्ष श्यामी मैं मुक्त करूंगा मुत्र मोचन धातु है ना मोक्ष श्यामी मुक्त कराऊंगा सारे पापों से तुम तो मुक्त हो जाओगे हाँ हम मोक्ष श्यामी मैं मोक्ष कराऊंगा महासुचा शोक मत करो सूच संताप धातु है ना संतप्त पद होना क्या होगा क्या होगा इसे संताप नहीं करना महासूच मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगा कहा हुआ है या मांग जो है निषेध अर्थ में मांग है अव्यय है मांग के तो मां निषेध शोक मत करो ये कहा भाष्य सर्वधर्मान मैंने सर्वे तथे धर्मा से सर्वधर्म जो सभ्य है वही धर्म है कर्मधार समास है सर्वधर्म में तान सर्वधर्मान ऐसा है सर्वशब्द धर्म शब्द में कर्मधार समास अभेद है दोनों में सर्वधर्मान सर्वे जते धर्माश सर्वधर्मान तान ऐसा कहा है जो सब है वही धर्म है वो सर्वधर्मा माना जाएगा द्वितीय के पहुंचने सर्वधर्मान बना हुआ तान सर्वधर्मान यही है सर्वधर्मान तान धर्म शब्द है ना अत्र अधर्म को गृहते कहते हैं धर्म शब्द आया यहाँ अधर्म तो नहीं आया श्लोक में किंतु अधर्म को ही ग्रहण है उपलक्षण में धर्म शब्द किसके में स्वग्राहकत्व से अन्य अन्य ग्राहकत्व उपलक्षण से लक्षण उपलक्षण अपना ग्रहण करता हुआ अन्य को भी ग्रहण करे उसको उपलक्षण कहते हैं उपलक्षण है धर्म शब्द है यहाँ अधर्म का भी ग्रहण करता है धर्म शब्द है अत्र मैंने अश्विन श्लोक है इस श्लोक में अधर्म भी गृह थे अधर्म का भी ग्रहण होता है नैष्कर्म से विवक्षित होता कर्माभाव या विवक्षित है धर्माधर्म रूपी जो कर्म है ना उसका अभाव या विवक्षित है निर्गता कर्म अस्मात् निष्कर्मा तस्वभाव नैष्कर्म मैंने कर्माभाव यहां निश्चित है तो यही विवक्षित बोलना इसका यही यहां कर्माभाव है क्यों कहते देखो कठोपनिषद में कहा था नाविन तो दुश्चरिता ना शांतो न समाहित शांत मानसो भी अज्ञान है ना अभाव तो ज्ञान ज्ञान है फिर भी ये सारे मान नहीं होंगे तो ज्ञान होने पर भी मोक्ष नहीं मिलने वाला है प्रज्ञान है ना ज्ञान है ना ना आपनोया परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी क्या दुष्चरिता न अविरत दुष्चरित्र से विरक्त नहीं हुआ है ज्ञान तो हुआ है दूसरे को उपदेश कर रहा है किंतु दुष्चरित्र में बैठा है उसके मोक्ष मिलना संभव नहीं है ना ना हो दुष्चरिता ना शांत जो विशेष रूप से अंतकरण की शांति न हो जिसको समन नहीं हुआ हो इंद्रिया दमन नहीं हुआ हो वो प्राप्त केवल ज्ञान मात्र से परोक्ष ज्ञान हुआ शास्त्र पड़ा शास्त्र ज्ञान है उतने मात्र से मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता न समाहित जो एकाग्र नहीं हुआ हो विक्षिप्त चित्त वाला हो वो विषय चाहिए वो विषय चाहिए वो विषय विक्षिप्त स्वभाव में बैठा हो वो इस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता प्रज्ञान है ज्ञान है उस बात परोक्ष ज्ञान है दूसरे को व्यस्त कर रहा है माँ बाप ने याद आया है ना विरतो दुष्चरता ना शांतो न समाहित न शांत मानुष हो आप मन जिसका शांत न हो हाँ, प्रज्ञान है ना न ने डकार सबके साथ है प्रज्ञा मैंने ज्ञान मात्र से प्राप्त नहीं कर सकता है रावण था ज्ञानी था उपदेश करता था किंतु रब प्राप्त किया नहीं कर सका ये कठोपन से कहा है नाविर तो दुष्चरितात् इत्यादि है और महाभारत शांति पर्व में कहा तेज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यात्र तेज उभे सत्याकृत एवं तेज तेज ये भी कहा धर्म को भी त्यागो अधर्म को भी त्यागो कहते हैं तेज धर्मम अधर्मम च धर्म को भी त्याग देना यदि मोक्ष चाहते हो अधर्म को भी त्यागना किंतु पहले धर्म को नहीं त्यागना अधर्म को त्याग सको तब उसके बाद धर्म को त्यागना हम्म। धर्म को तो पैसे त्यागा हुआ ही है क्या त्यागना है अभी आज के दिन में धर्म कौन त्यागा हो ये अधर्म कर रहा है उसी को त्याग हो गए त्यज अधर्म अधर्म उभय सत्य तृतीय त्यज सत्य को भी त्यागो झूठे को भी त्यागो उभय सत्य तृतीय त्यक्वा तो जिस अहंकार को लेकर के लोग त्यागा था उस अहंकार को भी त्यागो ये न तेजसी जिसके सहारे से त्यागा था मैं त्यागी हूं भावना ये भी नहीं होनी चाहिए आगे जाकर मैंने धर्म को त्याग दिया अधर्म को त्यागा सत्य को त्यागा मिथ्या को भी त्यागा मैं एक अभिमान आ सकता है क्या मैं त्यागी हूं जिससे इनको त्यागा था अहम के द्वारा त्यागा था उसको भी त्याग जैसे एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाला जाता है उस कांटे को फेंक दिया जाता है इस प्रकार पढ़ो ये कहा हुआ है तेजाधर्म अधर्म से उबे सत्या महाभारत शांति पर्व है इत्यादि श्रुति स्मृति पर मन श्रुति स्मृति में धर्म अधर्म सबको त्यागने कहा इसलिए आगे कहा सर्वधर्म परित्याग यही अर्थ है यहाँ इत्यादि श्रुति श्रुति है आविरतो दुश्चरिता इत्यादि श्रुति और स्मृति क्या है क्या धर्म अधर्म आदि है सर्वधर्मान परित्यज्य संन्यास्य प्रत्याग में न संपूर्वक न्यास शब्द जो होता है वो त्याग में प्रयुक्त होता है समपूर्वक समूप स्वरूप जो न्यास शब्द होगा वो त्याग में त्याग अर्थ पर भी होता है कहा सर्वधर्मान परित्यज माने संजय से सर्वकर्माणी तेत सारे कर्मों को त्याग करके उस काल में नित्य नैमित्तिक कर्म प्रतिनिध कर्म काम्य कर्म जितने भी कर्म है सबको त्याग कर यदि मोक्ष चाहते हो उसका उस स्थिति की बात है सर्वधर्म परिचय से सर्वकर्माणी तेत जो चार प्रकार के कर्म की चर्चा है नित्य नैमित्तिक काम्य प्रतिनिध सबके सब कर्मों को त्याग कर यह अर्थ होता है अधर्माधर्म करने वाले कर्म होते हैं उन्हीं को त्याग कर माम एकम सर्वात्मान कहते हैं मैं जो एक हूं सबके स्वरूप हूं सर्वात्मान आत्मान स्वरूपम जो सबका स्वरूप हूं मेरे में सारे कल्पित है हम्म, जितने भी मैं संसार में जो भी प्राणी वर्ग है जड़ चेतन वर्ग मेरे में कल्पित है जैसे रज्जु में सर्वकल्पित है इस प्रकार मेरे में कल्पित है माम एकम सर्वात्मान मैं कैसे हूं जो सर्व का आत्मा हूं सर्वेशा आत्मान सर्वात्मान सबके आत्मा मैंने स्वरूपम स्वरूप हूं मैं जैसे रज्जु में कल्पित जो सर्प है उसका स्वरूप रज्जु ही है इतने जितने भी यहां जड़ चेतन पदार्थ जितने उस निर्विशेष आत्मा में कल्पित है आम एकम सर्वात्मान समम सब में सम हूं बराबर हूं समान रहने वाला मैं जो हूं क्यों व्यापक है सबके साथ है वो समम सर्वभूतस्तम समरूप से सभी भूतों में स्थित हूं मैं छोटे बड़ा पना नहीं है समान रूप से स्थित हूं सर्वभूत तो ईश्वरम ईश्वर कहा अच्युतम विच्युत नहीं होता इसका नाश नहीं होता अविनाशी तत्व है उसको गर्भ जन्म जरा वर्ण जिसमें गर्भवास भी नहीं होता मेरा गर्भवास नहीं है गर्भवास किसका होता है शरीर आदि का गर्व गर्व जन्म भी नहीं गर्व भी नहीं तो जन्म ही नहीं गर्व जन्म जरा वृद्ध अवस्था भी नहीं क्या गर्व में आया ही नहीं पैदा ही जन्म ही नहीं जन्म नहीं तो वृद्ध भी नहीं जरा भी नहीं मरण भी नहीं विवर्तित चारों से रहित हूं मैं गर्व जन्म जरा मरण विवर्तित हम कहा अहम एवं नहीं हूं सारे के सारे इति एकम किस रूप से मेरे को शरण में आना अहम एवं इस रूप से आना किस रूप से हम ब्रह्मास्मि इस रूप से ना द्वैत भाव से नहीं हमेव इस रूप से आओ सर्वदा द्वैत भाव से होने पर मोक्ष नहीं मिलने वाला है गति होगी अहमेव इति एवं एकम सर्वमत कहा अहमेव मैं ही हूं इस भाव से आना हम्म। इदम तो न अहम तो न अब इस भाव से आना सर्व होना सर्वम प्रजा का सर्व में आ जाओ न मत्व अन्य दस्ती मेरे से भिन्न कोई नहीं है ऐसे निश्चय करो क्या करो न मत्व अन्य दस्ती मेरे से भिन्न कोई है ही नहीं मैं ही हूं ऐसी भावना से आओ ऐक्य भाव से आओ स्थिति ऐसी है अहम त्वा सर्व प्राप्त मोक्ष ऐसे मासूच है उत्तरार्ध है उसका अर्थ करते हैं आगे अहम त्वा मैंने त्वाम त्वाम होना था मैंने पद से परे पाद के आदि में है इसलिए क्या कर दिया त्वा आदेश कर दिया द्वितीय के एक वचन है त्वाम की जगह पर त्वा आया है अहम त्वा मन त्वाम एवं निश्चित बुद्धि जो निश्चय बुद्धि हो गया तुम्हारा अहम एवं परम ब्रह्म से निश्चय बुद्धि वाले तुमको सर्व पापेभ्य सर्व धर्माधर्म बंधन रूपेभ्य सर्वपाप का अर्थ धर्म अधर्म जो बंधन का कारण है हम्म। स्वर्ग नरक आदि में बंधन डालने वाले जो बंधन के कारण है इनसे मोक्ष श्याम मुक्त कराऊंगा तुम्हें तो मुक्त हो गए मैं मुक्त कराऊंगा रेच लगा के बोला मुझे मुझे रेच करके मोक्ष बोला हुआ है अच्छा स्वात्मभाव प्रकाशीकरण कहते हैं मैं आत्मभाव प्रकाश करूंगा तो मैं क्या है प्रकाश करूंगा ऐसा करके मोक्ष करूंगा दसम अध्याय में कहा था तेसा सतत युक्ता भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धियोगम तम ये नमाम उपयांति थे निरंतर जो मेरा ही कीर्तन कर रहे हैं श्रवण कर रहे हैं इत्यादि मच्छिता मदगता प्राण बोधयंत परस्परम कथयन तत्समाम नित्यम दुष्यंति क्रमंति जो पूर्व श्लोक था वो मेरे चित्त मेरे में जिनका लगे हुए हैं मच्चित्ता मदगता प्राण इंद्रिय भी जिनका मेरे में ही है लगे हैं मेरे को ही सुनते हैं मेरे को ही देखते हैं ऐसी स्थिति में बोधयंत परस्पर एक दूसरे मेरा ही ज्ञान कराते हैं कथन से वहां मेरे कथन करते हुए अन्य कथन नहीं करते संसारी कथन वार्ता नहीं करते तुष्यंत मंत्र जो जो भक्त मेरे ऐसे हैं तुष्ट होते हैं तृप्त होते हैं और आनंदित होते हैं केशाम सततयुक्ता निरंतर मेरे में जुड़े हुए जो लोग हैं भजताम प्रीत पूर्वक निरंतर मेरा ही भजन कर रहे प्रेम पूर्वक कर रहे हैं ददामी बुद्धि योगम तब मैं एक बुद्धि योग देता हूं बुद्धि संबंध कर दूंगा एन माम एन बुद्धि योग माम देव उपयांत जिस बुद्धि के द्वारा ये लोग मेरे को प्राप्त करते हैं अगले श्लोक में तेषा विवानुकंपार्थम अहम अज्ञानदम तमा नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञान भाष्य का और दूसरी बात ये भी करूंगा तेषाम एवं अनुकंपार्थम उनके लिए दया करके अनुकंपा करने के लिए अहम अज्ञानदम तमा मैं जो अज्ञान जन्य जो तम है अज्ञान मूला ज्ञान अविद्या और उससे उत्पन्न तम क्या है देहादि में आत्मबुद्धि केवल ज्ञान मैं तुला ज्ञान इसको मैं नाश करूंगा नाश यानी आत्मभावस्था में नाश करूंगा भिन्न नहीं उनके हृदय के भीतर जाकर के उनका हृदय वो भिन्न हो उनके अज्ञान को नाश करूंगा ऐसा नहीं आत्मभावस्था स्वरूप बन करके ज्ञान देवेन वासुदा कहा हुआ है उसी यहां भी बोल रहे हैं स्वात्म भाव कर ना कहा हुआ है अपने भाव प्रकाश के द्वारा मैंने मैं सच्चिदान आत्मा हूं ऐसे प्रकाशित हो जाऊंगा उसके हृदय में ये कहना है उत्तम चाह ये कहा है दसम अध्याय में कहा नाश आम आत्मभाव वस्तु ज्ञान वास्तव दसवा अध्याय बोल के आए तेसा हम एवानुकुम पार्थम अहम अज्ञानदम तमाम नाशयाम आत्मभाव वस्तु ज्ञान दिव्य अनुभाषिता इसी गीता के दसम अध्याय में कहा बात अतो मां सूच इसे शोक मत करना बोलते हैं सूच शोक ये धातु है निषेध अर्थ में मांग अव्यय लगा हुआ है निषेध अर्थ में होता है मां सूचा शोकम मां का अर्थित तो शोक मत करो ये कहना है शोक मत करना ये बोल रहे हैं अच्छा। ठीक है धर्म विशेषणाद अधर्मानुज्ञान आ रहे थे धर्म लगे सर्वधर्मान शब्द दिया हम्म। धर्म विशेषण चला दिया धर्म सारे के सारे कौन हो धर्म तो अधर्म के लिए तो अनुमति हो गई भगवान भी ऐसा लगता है श्लोक देखने से क्या लगता है धर्म को त्याग अधर्म को त्यागने तो कहा नहीं हम्म। जितना पाप करता था और ज्यादा करे ये आ सकता है जो धर्म के निषेध किया है क्या किया अधर्म का तो नाम नहीं लिया श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज ये तो है तो धर्म विशेषण आप धर्म विशेषण बनाया हुआ श्लोक में अधर्म अनुज्ञान पा रहे थे अधर्म में अनुमति होगी भगवान की इसे निषेध करते हैं अधर्म में नहीं धर्म शब्द इत्यादि आया है धर्म शब्द ना अधर्म में क्रियते कहा था धर्म शब्द के द्वारा क्या करना अधर्म को ग्रहण करना यहाँ लेना है कि धर्म के माने त्याग देना अधर्म करता रहे ऐसा नहीं होगा था धर्म शब्द है ना अधर्म गृहते उपलक्षण में है कई बार उपलक्षण में शब्द आ जाता है अपना ग्रहण करता हुआ अन्य को भी ग्रहण करने वाले को उपलक्षण बोलते हैं या धर्म शब्द अपना तो ग्रहण करेगा धर्म का तो ग्रहण करेगा ही और अपने से भिन्न जो अधर्म है उसका भी ग्रहण करेगा स्वग्रह तत्व सती स्व इतर तत्व उपलक्षण से लक्षण अपना ग्रहण करता हुआ अपने से भिन्न का भी ग्रहण करता हो ऐसे शब्द को उपलक्षण कहते हैं तो कहा तुम तो माने अधर्म की अनुमति निषेध करते हैं क्या बोला धर्म शब्द है ना अधर्म गृहते इत्यादि कहा था मुमुक्षुणा धर्माधर्म त्याज्यते स्मृति स्मृति उदाहरण मुमुक्षु के द्वारा मुमुक्षु तो त्यागे नहीं धर्माधर्म को त्यागेगा नहीं ज्ञान निष्ठे ना मोक्ष कहा ज्ञान में निष्ठा रखने वाली जो मोक्ष है मुमुक्षु के द्वारा किसके द्वारा कर्म में निष्ठा नहीं रख रहा मुमुक्षु मुमुक्षु कर्म में निष्ठा रखता है तब तक स्वर्ग आदि के लिए कर्म करता है भक्त इच्छुक तब तक विषय भोगने की इच्छुक है तो कर्म निष्ठा होती है उसके पास ये ज्ञान निष्ठा है ज्ञान निष्ठ है ना ज्ञान में निष्ठा रखने वाले द्वारा मोक्ष होना जो मोक्ष होता है ज्ञान में निष्ठा रखता है धर्माधर्म त्याज्य स्मृति स्मृति धर्म अधर्म दोनों त्याज्य होता है उसके लिए क्या होता है त्याज्य क्यों होता है धर्म भी अधर्म भी दोनों ने रखा श्रुति और स्मृतियों के उदाहरण देते हैं कई स्मृतियां हैं कई स्मृतियां या नमूना के लिए कठोर परिषद दे दिया एक महाभारत की स्मृति दे दी यही है ये कहते हैं नाविरत इत्यादि स्मृति है नाविरत दुष्चरिता नाशांतोट समाहिता ना शांत मानसोवाप ये प्रज्ञान है ना लोभात्मयात इत्यादि कहा है और तेज धर्म और महाभारत शांति पर्व है माम एकम इत्यादि तात्व माम एकम ये बहुत मुश्किल है इसका अर्थ करना स्थिति ऐसी हो जाएगी यदि कृष्ण को लेंगे तो राम भक्त सहन नहीं कर पाएंगे राम को लेंगे तो कृष्ण भक्त सहन नहीं कर पाएंगे सभी गीता पढ़ते हैं ये श्लोक गीता पढ़ेंगे तो श्लोक भी पढ़ेंगे तो माम शब्द का अर्थ करना होगा उनको सबको करना पड़ेगा शिव भक्त भी करेगा द्वैत अद्वैत जितने वादी है सब गीता को पढ़ते मान्य है बाकी तो अपना अपना सांप्रदायिक बनेंगे जो भी होगा किंतु ये सबको मान्य है तो वो माम शब्द अस्मत शब्द पर है मेरे शरण में आओ कहना चाहते हैं तो वो मेरा कहने वाला कौन है कृष्ण है राम है शिव है विष्णु है कौन है या दुर्गा देवी है कौन है पता नहीं जो भी होगा हाँ, शक्ति के उपासक भी गीता तो पढ़ते ही है तो कहना चाहते हैं यहां सर्वधर्मान परिचय संदेश से सर्वकार सर्वधर्म परिचय का अर्थ ही होता है सर्व का एक कहा हुआ है टीका भी कहा था माम एकम इत्यादि तात्पर्य ये है ना माम एकम सर्वमृत कहा था इसका तात्पर्य बता रहे न तो अन्यत इत्यादि कहा था यही है न मत्तो अन्यत इत्यादि सर्वे भाषण मेरे से अन्य के नहीं मेरे ही शरण में आ जाओ कहना मामेकम सर्वमर्थ कहना ये कहना है मामेकम सर्वात्मान समम सर्वभूतत्व ईश्वरम अचितम गर्भ जन्म जरावर विवर्जितम अहम एवं एकम सर्वम ब्रज यही अर्थ होता है मामेकम का अर्थ जरावर आदि धर्म से रहित तत्व हूं उसके शरण में जाओ यही है अर्जुन से क्षत्रियवाद अर्जुन क्षत्रिय है उक्त संन्यास द्वारा ज्ञान निष्ठाया मुख्य अधिकारी भी कहते हैं कर्मों के संन्यास के द्वारा ज्ञान निष्ठा मुख्य अधिकारी उसको अधिकार उसको नहीं है क्यों अभी क्षेत्र धर्म में धर्म को मान के चल रहा होती है मैं क्षेत्रीय हूं करके अभिमान है ज्ञान निष्ठा के अधिकार में तो सारे धर्मों का परित्याग करके होना है तो अर्जुन से क्षेत्रीय क्षेत्रीय होने से उक्त संन्यास द्वारा कर्मों के संन्यास पूर्व कहा हुआ है धर्माधर्म संन्यास के द्वारा ज्ञान निष्ठायाम मुख्य अधिकार की ज्ञान निष्ठा में मुख्य अधिकार नहीं है अर्जुन का फिर ज्ञान निष्ठा के बारे में क्यों कह रहे हैं यहां तो कहते हैं तम पुरस्कृत उसे सामने करके अन्य को है ये बातें जो अधिकारी होंगे ज्ञान निष्ठा में अधिकारी अधिकार होगा जिनका उनके लिए कथन कर रहे हैं जैसे घरों में लड़की को सुनाना लड़की को कहना बहू को सुनाना बोलते हैं अभी अभी ब्याह की आई बहू है उसको कुछ कहेंगे तो नाराज हो जाएगी ए काम बिगाड़ा काम उसी ने बिगाड़ा है तो लड़की को बोलेगी मां तूने तो ऐसा कर दिया तैसे कर वो समझ जाती है तो यहां भी ऐसे ही अर्जुन को सुनाते हुए अन्य अधिकारी जो ज्ञान के अधिकारी उनके लिए है ये बातें कहना है अर्जुन से क्षेत्रीयत्वात उक्त संन्यास द्वारा जो कर्म संन्यास है धर्माधर्म का संन्यास के द्वारा ज्ञान निष्ठायाम मुख्य अधिकार है ज्ञान निष्ठा में मुख्य अधिकार नहीं अर्जुन का भी मैं क्षत्रिय हूं ये बातें उसके मन में है क्यों जो ज्ञान निष्ठा में अधिकार तो उसको ना हम देह न मैं देह में पहुंचा होगा सारे धर्म को त्यागा होगा वो ज्ञान निष्ठा में अधिकारी मुख्य अधिकारी वो होता है अर्जुन मुख्य अधिकारी नहीं है मुख्य अधिकारी न होने पर भी तम पुरस्कृत उसको सामने करके अर्जुन का यह उपदेश तो उसको हो रहा है किंतु तो सबके लिए उपदेश है मान जो अधिकारी है ज्ञान निष्ठा वाले को उनके लिए ये कहना चाहते हैं तम पुरस्कृत उसको सामने करके अधिकारी जो ज्ञान के अधिकारी होंगे कौन होंगे ज्ञान निष्ठा के अधिकारी होंगे उनके लिए तस् उपदित कृतवाद माने धर्माधर्म का त्याग करके उसका उपदेश करना इष्ट है अविरोधम प्रत्यय अविरोध करके कहा अधिकारी को लेकर के कहा हुआ यहां यहाँ तो कहा अहम तो आज को प्राप्त आदमी इससे हम मास्टर कहा था यही है उगते अर्थे दासमक वाक्य अनुकूल है दसम अध्याय का वाक्य अनुकूल करते हैं आत्मभाव पे जब सर्व में आओगे तो क्या होगा आत्मा हम्म। आत्मावस्था ज्ञान के द्वारा ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा क्या प्रकाश करता हुआ अंधकार को नाश कर दूंगा मैंने अविद्या जन्य जो मोह है उसको नाश कर दूंगा शरीर आदि में आत्मबुद्धि को नाश कर, कर दूंगा ये कहा हुआ है दसम अध्याय दासम निगमन दसम अध्याय होने वाले को दास में कहा वो वाक्य क्या था आत्मा आत्मावस्थो ज्ञान के द्वारा वास्तवता ही कहा हुआ था ईश्वर से त्वदीय बंधन निराश निरसन द्वारा तत्पालयित्वात नते शोकावकाश अस्थित अतः ईश्वर जो परमात्मा क्या होते हैं त्वदीय बंधन है तुम्हारे जो बंधन है धर्मानुरूपी बंधन का खंडन के द्वारा परमात्मा ये करेंगे हम तो असर पाप मोक्षाम भगवान के वचन है तो ईश्वर से जो ईश्वर है वो त्वदीय बंधन तुम्हारा जो बंधन है कौन धर्माधर्म रूपी जो बंधन है तत्त शरीर में पहुंचाना है बंधन है ही तो यह बंधन निरसन द्वारा उसका नाश के द्वारा त्वत्पालित तो तुम्हारे पालन के कर्ता बन जाते हैं पालक बन जाते हैं रक्षक हो जाते परमात्मा तुम्हारे धर्मार रूपी बंधन से मुक्त करते हुए उसके माध्यम से तुम्हारे रक्षक होते हैं परमात्मा पालित नते शोका परमात्मा पालक है रक्षक है उनके सर्वागति पर तो जाओ परमात्मा तुम्हारे रक्षक बन जाते हैं इसलिए शोक की चिंता नहीं है मैंने इतना पाप किया है अथवा इतना धर्म किया उनका ये शोक माने न किया हुआ धर्म शोक के लिए कारण होगा मैंने ये काम नहीं किया संतप्त होगा और किया हुआ पाप शोक के लिए होगा मैंने ऐसे किया अकृत धर्म अकृत पाप ये शोक के कारण बनते हैं जो धर्म नहीं किया अंतिम अवस्था में रोने लगता है मैंने इतने कर्म दुनिया को लूटा ये किया शोक किया अच्छा काम नहीं किया संतप्त होता है शोक के कारण बन जाता है पुण्यकर्म नहीं करने वाला और पाप करने वाला व्यक्ति अंतिम अवस्था में तो संतप्त तो होगा ही मैंने क्यों ऐसा काम किया जो कुछ था यहां छोड़ के जाना पक्का हो गया तो क्यों ऐसा काम किया पहले ये बुद्धि नहीं आती है हाँ जब डॉक्टर बोल देगा दो तीन घंटे को रह गए तो हाँ तब ये संतप्त होगा भगवान के बाणी में तो किसी को विश्वास है ना डॉक्टर के वाणी में विश्वास है वो बोलने पर तुरंत मान जाएंगे इतने दिनों से भगवान बोल रहे हैं वहां कोई ध्यान नहीं देता स्थिति ऐसी है ये अविद्या है तो ईश्वर से त्वरीय बंधन निरसन द्वारा कहा भगवान जो होते हैं ना तुम्हारे बंधन के धर्माधर गुरु जो बंधन के नाश के द्वारा तत्पालित तो तुम्हारे पालक बन जाते हैं भगवान पारक्षण धातु है तुम्हारे बालक होते हैं रक्षक होते हैं परमात्मा नते शोक अवकाश होते तुम्हारे लिए शोक के अवकाश नहीं है यदि भगवान के शरण में जाओ ना फिर शोक करने की आवश्यकता नहीं टीका हुआ है अतः इत्यादि का आदेश को कहा था अतो मां सुच शोकम काशी श्लोक का सामान्य अर्थ हो गया आगे फिर करेंगे थोड़ा तो इसमें भाष्य टीका आदि ज्यादा है क्यों गीता यह समाप्त है आगे तो फलश्रुति है इति तेना तपस्का आदि वाक्यान है अंतिम उपदेश है भगवान का तो यहां कुछ विशेष विचार करना है सारे गीता का विचार यहां करना है विशेष भाष्य में इसके लिए आरंभ होना है आगे समय हो गया यहाँ रखते हैं प्रकार ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण